हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम मैं गया था अभी तत्काल लॉस एंजलिस तो वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है स्कान के द्वारा बनाई गई है डायरामा <laughs> तो वहां पर लिखा गया है और गेस्ट हाउस में भी लिख कर रखा गया है दिस इज आवर डिज्नीलैंड तो और लोग भले डिजनी लैंड में घूमे और घूम करके लास्ट में दुखी होकर आवे लेकिन वास्तविक डिजनी लैंड है भगवान का मंदिर वहां जाने के बाद तब जीव आनंद में मग्न हो जाता और वो भी जब स्कान के द्वारा बनाए हुए डायरामा आप देखेंगे बिजली द्वारा चालित तो बहुत सुंदर लगता है छोटा ही है लॉस एंजलिस में लेकिन वास्तव में वो डिज्नीलैंड का बाप है तो उसको देखने पर प्रसन्नता होती है भगवान किस तरह बोलते हैं गीता का उपदेश करते हैं तो और दुनिया के लोग जाते हैं डिजनीलैंड में वहां पर एक चीज मैं देखा एक बार हमको टिकट दे दिया था एक भक्त ने गया था फ्री मिला था कई लोग गए थे तो हमने देखा एक जगह पर मेढक के आकार के कुछ यंत्र बनाए गए थे मेढक जैसे और कुछ लोग चलते थे ऐसे गोलाकार और मेढक के मुख से पानी निकलता था तो कुछ न कुछ लोगों पर पड़ता था तो हमने एक भक्त से कहा कि हाय हाय देखो मेढक थूक रहे हैं इन लोगों <laughs> ये फल मिल रहा है ये भी धिक्कार रहे कि क्या इस तरह से <laughs> तुम सुख मानते हो <laughs> तो जो देखे होंगे वो समझते होंगे किस तरह और वो लोग इसलिए बनाए हैं कि वो मेढक स्वागत कर रहे हैं पानी छिड़क रहे हैं लेकिन वो सीधे उनके मुख से आता है असली बात है तो असली मेढक नहीं है <laughs> लेकिन ऐसे बनाया गया तो हम पर पड़ा तो हम तो समझे जूठा हो गया देह मगर ठीक सजा दे रहा है इसको देखने वालों के ऊपर इसी तरह मेदक थूकते हैं इस दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे सुखी हो जाएंगे ऐसे सुखी हो जाएंगे और सुखी होने का उपाय बताया जाता है chant Hare Krishna and be happy ये कहीं उपाय है भगवान का नाम जपो और सुखी हो जाओ ये स्लोगन है स्कान का सब जगह chant Hare Krishna and be happy पर आश्चर्य है कि सिंपल और सबसे बलवान उपाय को मनुष्य स्वीकार नहीं कर रहा है स्वीकार करना चाहिए शास्त्र कहता है और जब स्वर्ग के राजा इस तरह से बोल रहे हैं कि स्वर्ग किन क्षुद्र ही खात कोद का स्वर्ग का सुख क्षुद्र है छोटा है और वो घातक उदक है उदक मतलब पानी जल और खातक का अर्थ है गड्ढा खोदा हुआ एक तरफ समुद्र में भरा हुआ है रस और एक तरफ गड्ढे में गंदा जल भरा हुआ है तो कौन इसको भोगेगा जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है लेकिन जस भक्ति भगवती जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है वो उसको क्या स्वर्ग से मतलब है उस स्वर्ग नामक नरक से उसको क्या मतलब है बताइए जो स्वर्ग के सुख को हे कहा जा रहा है कौन कह रहा है स्वर्ग का मालिक वो बोल रहा है कि स्वर्ग तुच्छ है भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है भक्ति ही वास्तविक अमृत है वास्तविक रस है वास्तविक सुख है तो जब स्वर्ग को इतना हीन कहा जा रहा है तो इस पृथ्वी को कितना हीन कहा जाएगा इस कोई सीमा नहीं देवता लोग इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं इतना उनको गंदा लगता है कभी आते हैं तो आकाश में ही खड़े रहते हैं पृथ्वी पर पैर नहीं देते उनको बहुत यह धरातल गंदा लगता है और वे ऊपर से जब मनुष्यों पर विचार करते हैं भागवत की बात मैं कह रहा हूं तो लोग देवता लोग कहते हैं कि ये मनुष्य कितने जैसा लगता है कि गट्टर में कुछ कीड़े घूम रहे हैं देवताओं को ऐसा लगता है इधर तो आदमी सोचता हम बहुत अच्छी कार से चल रहे हैं लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि ये पिलुआ ये कीड़े रेंग रहे हैं और गट्टर में रंग घूम रहे हैं द्वितीय स्कंध भागवत में लिखा गया है कि जौन लोक के निवासी जो है उनको कोई दुख नहीं है कभी कोई दुख नहीं है लेकिन एक एक चीज से बहुत दुखी रहते हैं जब वो मनुष्यों पर विचार करते हैं देखते हैं तो सोचते हैं ओहो कितने कभी रोग कभी दुख बुढ़ापा ये वो ये कितने दुखी जीव हैं तो मनुष्यों का दुख देख करके वे बेचारे दुखी होते हैं नहीं तो उनको अपना कोई दुख नहीं है <laughs> और सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं विष्णु का भजन करते हैं ये लोग सुखी होने के लिए बहुत बहुत उपाय कर रहे हैं लेकिन वास्तव में सुखी नहीं हो रहे हैं दुख बढ़ता जा रहा है इतना रोड एक्सटेंड कर रहे हैं लेन बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी कार में लोग हाय हाय करते हुए आते हैं थोड़ा भी जाम होने पर चेहरा उदास होने लगता है घड़ी देखते हैं कब पहुंचेंगे क्या हो गया कोई सुख नहीं है रोज रोज रोड विस्तार कर रहे हैं इतना फैला देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे फ्लाइंग ब्रिज बनाएंगे ऐसे करेंगे फिर भी दुख जो कहते हैं और मान लीजिए वो निर्बाध पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचने पर डेस्टिनेशन पर क्या सुख है कोई सुख नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाने का समय नहीं मिलता है शाम को आकर के तब तो कुछ खाते हैं तो क्या सुख है इस संसार में जब खा भी नहीं सकते अच्छा से तो गधे की तरह काम करो भले दौड़ दौड़ कर कार्य से लेकिन सुख क्या है एक मोह है वास्तव में भ्रम है और सोचा अच्छा अब सुख भेंट हो जाएगी सुख से अब दो दिन के बाद इस वर्ष के बाद इसके बाद मैं एडजस्ट हो जाऊंगा तब तक बुढ़ापा चालू हो जाती है अभी सुख के पास पहुंचे नहीं तब तक मृत्यु के तरफ गाड़ी जाने लगती कोई सुख नहीं और यहाँ के मनुष्यों में स्त्रियों में ये जो रोग है अनेक प्रकार का इसलिए शरीर सुख भोग भी नहीं सकता एक तो यहां भोग है ही नहीं और भोग हो भी तो शरीर में इतने रोग हैं कि भोगेगा क्या आदमी क्या भोगेगा घी माना है चीनी माना है असली चीज तो सब माना कर दे क्या भोगेगा <laughs> तो नमक मत खाओ चीनी मत खाओ घी मत खाओ और ज्यादा मत खाओ थोड़ा थोड़ा एक रोटी खाओ ऐसे खाओ ऐसे खाओ <laughs> सीधा सीधा वार्निंग दिया रही यहां क्या भोगोगे कुछ नहीं भोग सकते तो दुख है वास्तव में वास्तविक सुख किसमें है भगवान की भक्ति में ये जो हम लोग यहां के दुख देख रहे हैं स्वर्ग में भी दुख है वहां का दुख क्या है वहां का दुख है सातिशयता का दुख शास्त्र में कहते हैं सौ अतिशयता देवताओं को और कोई कष्ट नहीं है लेकिन एक बहुत कष्ट है कि वहां जो ग्रेड्स हैं उसको ज्यादा सुपीरियर विमान मिला हुआ है उसको ज्यादा भोग मिला हुआ है उसको ज्यादा ये सोच करके वो जलते रहते हैं तो जो उनको मिला है वो भोग नहीं पाते हैं दूसरे का ज्यादा देह करके मरते रहते हैं और अपना जो भगवान ने दिया है उसको भोगना चाहिए लेकिन नहीं हाय रे उसको ज्यादा हो गया इंद्र को ज्यादा भोग मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है इसी चिंता में मरते रहते हैं कभी सुख का अनुभव नहीं करते इस स्वर्ग के राजा खुद ही बोल रहे हैं कि वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति में और यह सुख है अनंत है समुद्र की तरह है और जो संसार का सुख है वह छोटे से गड्ढे में जमा हुआ गंदे जल के समान है उसमें ना स्नान कर पाएंगे न उसको पी पाएंगे न उसे कपड़ा धोएंगे कुछ भी नहीं और बल्कि वो पानी पिए तो कोई रोग भी हो जाएगा मर सकते हैं लेकिन भक्ति रस अमृत सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का सुख सबसे बड़ा सुख इसीलिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और समझ गए कि क्यों नहीं स्वर्ग चाहते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति के समुद्र में विहार कर रहे हैं रस में मग्न है शिल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति बुर्वाण अन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृप इंद्र महावीरजौ इंद्रवृत्रौ पति हे महाराज परीक्षित इस प्रकार इंद्र और वृत्रासुर दोनों बोल रहे थे इसके पहले आपने वृत्रासुर जी का प्रवचन सुना इसके बाद भगवान इंद्र का सुना तो इस तरह वे दोनों बोल रहे थे किस लिए धर्म जिज्ञासा भगवान के भक्ति के प्रचार के लिए जिज्ञासा के लिए भगवान की भक्ति का निरूपण कर रहे थे यहां धर्म का अर्थ भक्ति धर्म जिज्ञासा with a desire to know the supreme ultimate religious principle devotional service ये अल्टीमेट eh, धर्म है डिवोशनल सर भक्ति सवाई पुनसाम परो धर्म जो तो भक्ति नोक्ष तो भगवान की वास्तविक भक्ति क्या है वास्तविक सुख क्या है जीवन का क्या उद्देश्य है इस विषय में दोनों वीर बात करते थे युद्धानुपति दोनों युद्ध के ईश्वर हैं बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े और महावीर जल दोनों लगभग एक समान शक्तिशाली थे एक समान शक्तिशाली थे महान वीर थे पर युद्ध के क्षेत्र में भगवत भक्ति की चर्चा चल रही है भगवान का गुण गाया जा रहा है तो इस तरह वे लोग परस्पर अन्योन्यम आपस में आनंद ले रहे थे इस तरह के और और बात भी बोलते थे युद्ध रुक गया था कभी व्रतरासु जी बोलते थे कभी भगवान इंद्र बोलते थे इस तरह अनुन्यम परस्पर धर्म पर प्रवचन कर रहे थे भक्ति पर प्रवचन कर रहे थे तो अब ये बात बोलने के बाद और सुनने के बाद दोनों वीर अपना कर्तव्य समझ करके फिर युद्ध चालू करते हैं भक्ति पर प्रवचन तो हुआ लेकिन काम करना है ना वो आए हैं मारने के लिए वृत्रासुर को और वृत्रासुर आए हैं मरने के लिए तैयारी हो ही गई है एक शरीर त्यागना चाहते हैं तो वृत्रासुर देखे कि बिना युद्ध के तो ये मारेंगे नहीं ऐसे भक्ति पर प्रवचन चलता रहेगा तो तो सालों बीत जाएगा मारेंगे नहीं तो झगड़ा करने पर तब न कोई किसी को मारता है तो ये बात बोलने के बाद इसके बाद अपना कर्तव्य समझकर वृत्रासुर परिघ उठाए अपने बाएं हाथ से दाहिना हाथ तो कट चुका था बहुत पहले आविध्य परिघम द्वित्र कार्सना यश मरिंदमह इंद्राय उद्घोरम वाम हस्ते न मारिश मारिश शब्द पूज्य के अर्थ में होता है मारिश हे सम्माननीय आदरणीय परीक्षित प्रवचन के बाद वृत्रासुर एक काले लोहे का कार्षण आयस काले लोहे का एक परिघ लिए और वे तो अरिंदमा है वृत्रासुर अपने शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं भीतरी शत्रु भी और बाहरी शत्रु भी इंद्र जैसे शत्रु को जीतने में समर्थ है और भीतरी काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को तो पहले से ही परास्त कर चुके हैं तो उसको अरिंदम कहते हैं अरिंदम अरिंदमयती अरिंदम दमयती जो शत्रुओं को दबा दे वो है अरिंदम तो अरिंदम शत्रुओं को दबाने में समर्थ है वृत्रासुर एक काले लोहे का परिघ लिए बाएं हाथ में और आविध्य आविध्य का अर्थ है कि उसमें गति बना करके और इंद्राय प्राहिणोत इंद्र के लिए छोड़े घोर बहुत भयावह परिघ वाम हस्ते न मारिश अपने वाम हस्ते में लेफ्ट हैंड से चलाए अभी चलाने जा रहे थे तब तक शतु वृत्रस परिघम करम चक्र भूकपम चिच्छेद जुगपत देव वज्रेण सत्परवरण जो भी वो चलाना चाहता था तेव ही भगवान इंद्र अपने वज्र से जिसमें सौ धार है पर्व है उस वज्र से उस परिघ को काट दिए और भुजा को भी काट दिए वृत्रासुर की भुजा भी गई दोनों भुजा एक भुजा तो पहले कट गए थे अब यह भी भुजा कट गई तो शिल सुखदेव गोस्वामी मानो कैमरा लेकर के वृत्रासुर का फोटो ले रहे इस तरह से वर्णन करते हैं और कहते हैं वृत्रासुर बहुत सुंदर लग रहा था दोनों बाह कटने से देखिए किस तरह का वाक्य है दुर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्त स्रवो सुरह छिन्न पक्षो जथा गोत्र खाद भ्रष्टो वज्रणा हाथ वृत्रासुर bleeding profusely his two arms cut off at their roots looked very beautiful like a flying mountain whose wings have been cut to pieces by Indra बभो बभो का सुशोभा वृत्रासुर बहुत सुंदर लग रहे थे युद्ध में बाह का कट जाना रक्त का बहना ये शोभा की बात है युद्ध में तो फूल का श्रृंगार होगा नहीं वहां तो रक्त लगे देह में अस्त्र से अंग कट जाए यही शोभा है तो दुर्भ्यम उत्कृत मूलाभ्यम वृत्रासुर के दोनों बाहों के मूल में ही काट दिया इंद्रदेव ने वज्र से मूल यहां से यह बाह कट गई यहां से यह बाह कट गई बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी बाह थी तो जब बाह कट गई तो दोनों तरफ से ऐसा रक्त चुने लगा जैसे लगता था कि खून की नदी बह रही धारा चल गई दोनों से तो शिव सुखदेव गोस्वामी याद करते हैं कि एक समय भगवान इंद्रदेव पर्वतों के पंख काटे थे तो उनसे जो पर्वतों के पंख काटे थे तो उनसे खून चू रहा था लाल लाल पानी चू रहा था और पर्वतों के पंख धड़ाम धड़ाम नीचे गिरे थे ऐसी बात थी एक बार कि पर्वतों ने अगस्त जी को नमस्कार किया और उनकी भक्ति किया तो अगस्त जी ने उनको वर दिया कि तुम लोगों को पंख हो जाएगा उड़ने के लिए तो पंख भी पत्थर का ही पंख माउंटेन का पंख माउंटेन का ही होगा तो पर्वत जहां तहां उड़ रहे थे उड़ते थे और किसी नगर पर किसी गांव पर जाकर बैठ जाते थे सब मर जाते थे तो इनसे विनय किया गया देवराजेंद्र से कि आप पर्वतों के पंख को विंग्स को काटिए तो भगवान इंद्र ने वज्र से इस घटना के बाद क्यों बात है वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे तब से पर्वत जहां तहां बैठकर अस्थिर रहते हैं जहां गिरे बस वहीं है ये तो बहुत उत्पात करते थे पर्वत शुरू में तो जब पर्वत के पंख काटे थे तो वहां से गेरू की धारा पानी चू रहा था ऐसे श्रवित होता था तो ऐसा ही इस दृष्टांत को ले रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि छिन्न पक्षों यथा गोत्र गोत्र का अर्थ होता है पृथ्वी की रक्षा करने वाला पर्वत जहां तहां भगवान ने पर्वतों को बनाया है पृथ्वी पर बैलेंस रखने के लिए बैलेंस के लिए तो इसको पृथ्वी का रक्षक कहा जाता है पर्वत को तो पर्वत जैसे गिरा था पंख कटने पर और गेरू बह रहा था उसी तरह से बज्री ने अर्थात भगवान इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों बाहों को काट दिया जिससे वक्त चू रहा था रक्त स्रव और बभव बहुत सुंदर लग रहे थे वृतराश सब अच्छा अच्छा दृश्य बीत गया तब वीडियो कैमरा बना <laughs> तो भगवान की लीलाओं को लिया गया होता उस समय तो शिल प्रभुपाद जी के समय में भी उतना डेवलप्ड नहीं था इसलिए प्रभुपाद जी के वीडियो कैमरा बहुत कम है जब सब अच्छे लोग चले गए दुनिया में केवल नालायक रह गए तब ये सब आविष्कार हुआ